विकल बस होशे चकई साँध समय जन सोहे मृदुपद कमल कठिन मग जायनी गह परिषदय कही बरबानी पर सत मृदुल चरण सकुचत महीज में हृदय हमारे जो जगदीश इन्हें बनु दीला कसन सुमन मय मार्ग के नाम स्निया स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो दुखी हो रही हो इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर ये व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया जो मागा पाइय विधि पाही ये रखी सखिया जे नारिन अवसर आए तिन सिया राम न देखन पाए सुन स्वरूप बूझही अकुलाए अब लग गए कहाँ लग भाई समर्थ धाई बिलो कहीं जाए प्रमुदित फिर जन्म फल पाए यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सकी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जही पछता हो ही प्रेम बस लो गई में राम जहाँ जह जा गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं गाव गाव अस होनंदो देख भानुकुल कैरव चंदो जो कछु समान चार सुनि पावही ते परायणी दोष लगावहि कहीं एक अति भल नर नाहू दीन हमही जोए लोचन लाहू कहीं परस्पर लोग लुगाई बातें सरल स्नेह सुहाई सूर्यकुल रूपी कुमिदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकई को दोष लगाते हैं कोई कह एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं ते पितु बात धन्य जिन्ह जाए धन्य सुनगर जहाँ ते आए धन्य सुदेश तैल बन गाओ जहाँ जहाँ जाहे धन्य सुठाऊ सुख पायऊ बिरंति रचिते हे ये जहि के सब भांति सने राम लखन पथि कथा सुहाई रही सकल मग कानन छाई कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार के स्नेही हैं पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगलों में छा गई है यही विधि रघुकुल कमल रे मगलोगन सुख दे जाहि चले देखत विपिन सौमित्र समेत रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं